इसे देखो तब तो देखो वलम आलू से देखो वलम आलू वलम आलू जोहदन और मैंने मेहनत में कोशिश में कोताही नहीं की किसी की थी उसकी तहकीक में यानी मुख्तर की तहकीक करने में वताजीबी और उसकी तहजीब में यानी हाँ। उसको मुनक़ा और साफ सुथरा करने में या एक तो इन्होंने मिलल अलवी और मिलल उलूवी ये बदला था कि ये मुश्तक है अलवन से या उलून से और इसके माना बदलाए थे वह हुआ तफसर और वो तफसर है यानी कोताही करना है जोहदन इसका इसके बाद आई हरफ तफसर लाकर निकाला इस इतिहादन के इतिहादन के माना में यानी मैंने मेहनत करने में कोशिश में कोताही नहीं की आगे फरमाया वक़द तमिल अलवू हाहुना मुतदियन इला मफ़ूलनी वफ़ल मफ़ूल वलमाना लम अम नाका जोदन असल इसको समझाना है अलवल यहाँ इस्तेमाल हुआ है दो मफूलों की तरफ मुतदी होकर यानी यहाँ पर दो मफूलों की तरफ मुतदी इस्तेमाल हुआ है क्या मतलब है ये जो आलू है ना आलू ये पकता है मदरसे में ये लाजिम होता है खाना आलू जो है ये लाजिम है यानी पहले लाजिम है पहले मुतादी नहीं है ठीक है ना लाजिम है कि मदरसे में रहोगे तो आलू खाना ही पड़ेगा तो आलू ये है लाजिम और लाजिम का मफूल नहीं आता है है ना तो लम आलू जोहदन इसलिए इसको माना में लिया है लम अमना लम अमना के कि मैंने नहीं रोका मैंने मना नहीं किया मैंने नहीं रोका ठीक है ना समझ रहे लम आलू आलू इसका अलून से जो है इसका मुता ये इसका वो नहीं आता मखोल नहीं आता ये मुताद नहीं होता ये होता है लाजिम और इसका लाए मफूल तो कहते हैं कि यहाँ पर जो लम आलू है ये लम अमना के माना में है और अमना ये मनउन से जो आता है इसके आते हैं दो मफूल चाहते हैं दो मफूल तो कहते हैं कि दो मफूल आते हैं तो लम अमना के बाद में एक ज़मीर है काफ अमना का तो काफ ज़मीर महजूब है और जोहदन यहाँ पर मजबूर है तो ये माना में हुआ लम अमना का जोहदन कि मैंने तुझको कोशिश करने से नहीं रोका आई समझ में बात देखो और अलगुन को यहाँ इस्तेमाल किया गया है दो मफोलों की तरफ मुतादी के तौर पर हालांकि अलगुन को लाजिम होता है उससे मफूल नहीं होते लेकिन दो मफूलों की तरफ मुतादी इस्तेमाल किया गया है वो कैसे होगा वो इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि उसको अमना के माना में लिया है लम अमना का जुदन वाहफल मफूल अव्वल हाँ और पहले मफूल को हजफ कर दिया गया है कौन सा है पहला मफूल लमना का जोदन कौन सा है लफ्ज काफ जमीर जो है ये क्या है पहला मफूल है मैंने तुझको नहीं रोका कहते जोदन मेहनत करने से कोशिश करने से हो गया फरमाते हैं और पहले मफूल को हजब कर दिया गया और माना है क्या लम अमना का जो होता है मैंने तुझे तो कोशिश करने से नहीं रोका अब इसको किताब से निकल कर बाहर आकर भी एक मरतबा अलग से समझ लो रिजवान मैंने तुझे नहीं रोका मैंने तुझे नहीं रोका तो अमना का अमना फैल है लम अमना का मैंने तुझको नहीं रोका ठीक है मैंने तुझको नहीं रोका पहल फायद मकूल हो गए ना जैसे पहला मकूल भी हटा दो पहला मकूल भी हटा दो इस तरह उसको रहना लम अमना का मैंने तुझको नहीं रोका अब क्या जहन में आता है तो इससे मालूम हुआ कि यहाँ पर एक मकबूल से काम नहीं चलेगा इसको दो मकबूल आएंगे क्या मालूम हुआ यहाँ पर एक मकबूल से काम नहीं चलेगा बल्कि दो मकबूल आएंगे क्योंकि आदमी किसी को रोकता है तो किसी चीज से रोकता है तो किसी को किसी चीज से रोका जाएगा तो किसी को रोकना और फिर किसी चीज से रोकना ये तो क्या होंगे मकबूल होंगे तो मालूम हुआ कि जो मनउन से आएगा उसके लिए दो मफूलों का होना लाजिम और ज़रूरी है तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पहले मफूल को हल्फ कर दिया गया है समझा की बात चलिए जनाब की तहकीक ही और मैंने मेहनत में कोताही नहीं की उसकी तहकीक उसकी तहकीक करने में जो भी मुझसे कोशिश और मेहनत हो सकी मैंने तहकीक और कोशिश की खूब जो है दलील और बात को जो है अच्छी तरह से साबित किया है किसको की तहकी ही कि ज़मीर का मजा अल मुख्तरी हमारे मुसनफ़ बहुत अच्छे हैं ये बदला देते हैं कि बच्चे जो है ज़रा कमजोर सलाहत वाले हैं इसलिए बदला दो यहाँ पे इसकी ज़मीर का मजा मुख्तर है और मुख्तर से मुराद मुख्तर क्या है मुख्तर गया पहले तलखीस है तलखीस की तलखीस मुफ्ता मुराद है मुख्तर की तहकीक में यानी फ़ी तहकी माज गिरमिनबहासी यानी उन बहसों की तहकीक करने में मैंने कोताही नहीं की जो जो उसमें जिक्र की गई हैं व और उसकी तहजीब में आई तनकी ही यानी उसकी तनकीह में उसको मुनक़ा करने में साफ सुथरा करने में जायद कलाम से साफ सुथरा करने में मैंने कोताही नहीं की कि कोताही कर दी बस ऐसे ही लिख दिया नहीं बिल्कुल थोड़ी गलत कोशिश की अब फरमाते हैं वरत तब तुह अल मुख्तसर तरतीबन और मैंने इसको यानी मुख्तसरमानी को क्या क्या है रतब तो हाँ तरतीब दिया है मुरतब क्या है किसको अरे किसको हैं हाँ? बोलने जल्दी इसको अरे ये जब मतन है ना देखो रत्तब तू तरतीबन मैंने उसको अब मतन किसका है तो, तो है जब ये कह रहे मैंने उसको तो क्या होगी तलखीस होगी जब मतन के अंदर है तो क्योंकि जब ये मुख्तसर मानी लिखी गई है तो उस वक्त में पता नहीं मुसनफ साहब कहाँ होंगे कि मुख्तर के मुसनफ़ साहब हो सकता है पता नहीं दुनिया में भी तशरीफ़ लाए होंगे नहीं लाए होंगे तो वो ये थोड़ी कहेंगे तलखीस मफ्ता के अंदर मेरे उसको यानी जो बाद में आवेगी मुख्तर उसको तो तलखीस तो होगी और अतब और मैंने उसको यानी मुख्तर को मुरतब किया तरतीबन ऐसी तरतीब से अकरब तनावलन जो हासिल करने के अतबार से करीब तर है वाला क्या है आगे तनावलन आई अफजन आई अफजन यानी लेने के एतबार वही हासिल करने के एतबार से उसको अपने जहन के अंदर उतारने के एतबार से क्या है उसकी तरतीब से ये आसान है करीब तर है मिन तरतीब ही किसकी तरतीब से उसकी तरतीब से या तो कह लो शक्काकी की तरतीब से या कह लो किस्म सालिफ की तरतीब से अगर ये कहें कि सक्का की की तरतीब से तो उस वक्त में इजाफतमसदरी इलफ़ाइल इजाफतमसदरी इलफ़ाइल हाँ तो मजदर की इजाफत फ़ाइल की तरफ होगी इसलिए कि लिखने वाले कौन है यही सक्का की साहब हैं और अगर ये कहो मिन तरतीबी मिन तरतीबिल किस्म चालीसी तो उस वक्त में ये इजाफत होगी किसकी तरफ उस चीज़ की तरफ जो लिखी गई है और जो लिखी गई है वो क्या है मफूल है तो इजाफतमजर मफूली भी तो मजदर की इजाफत मफूली भी की तरफ होगी वलम उबाल अख्तिसारी अख्तसारी लफ्ज़ ही तकरीबन ही और मैंने मुबालगा नहीं किया काय में उसके लफ्ज़ के मुख्तसर करने में यानी मुख्तसर के लफ्ज़ के मुख्तसर करने में तकरीबन लिताफ़ी ही उसके हासिल करने को करीब करने के लिए ये तकरीबन ये है इसका मकूल लहू यानी वजह उसके हासिल करने को करीब करने के लिए मैंने उसके अल्फाज के अंदर मुख्तसर के अल्फाज में के मुख्तसर करने में मुबालगा नहीं किया यानी बहुत ज़्यादा उनको मुख्तसर नहीं किया क्यों उसके हासिल करने को करीब करने के लिए क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुख्तसर कर दी जावे तो उसका समझना भी दुशवार हो जाता है और उसका समझना बड़ा बईद हो जाता है उसको समझना अक़ल से बीद हो जाता है अक़ल से दूर हो जाता है इसलिए मैंने उसके मखसूस करने में ज़्यादा मुबालगा नहीं किया ताकि उसको आसानी के साथ हासिल किया जा सके और उसको हासिल करना करीब ही रहे ठीक है एक बात दूसरी बात व तलाबली फ़ाहमी अला तालिबी ये दूसरी इल्लत है और तलब करने के लिए उसके फहम की आसानी को उसके तलबा पर यानी इस बात को तलब करते हुए इस बात की तलब करने की खातिर कि इसका समझना तलबा पर आसान हो जाए और तलबा इस किताब को बसानी समझ सकें इसलिए मैंने मुबालगा नहीं किया बल्कि इख्तसार के साथ काम लिया है और इख्तसार भी ऐसा नहीं कि जो मुश्किल जिससे जो है बात को समझना मुश्किल हो जाए बल्कि बस दरमियाना रवि के साथ में मैंने किताब को लिखी है, है? हाँ उसको हासिल करने हाँ तनावुल ही तनावुल कहते हैं किसी चीज़ को हाथ बड़ा कर लेना तो यहाँ पर हाथ बड़ा कर तो नहीं लिया जाएगा यानी उसको मुराद है जहन में उतारना अब इसके जो वो हैं दरमियान दरमियान में जो होकर शराह थी उसको देख लो और मैंने मुबालगा नहीं किया मुख्तसर के लफ्ज़ को अल्फाज को मुख्तसर करने में तकरीबन उसके लिताती ही उससे हासिल करने को करीब करने के लिए कहते हैं कि तकरीबन मफूल लहू ये मफूल लहू है अच्छा मफूल लहू लिमा तजमना माना लम उबाल ये मफूल लहू है लिमा उसका तजमना हु जिसको लम उबालिग का माना शामिल है ये मफूल लहू है उसका जिसको लम उबालग का माना शामिल है तकरीबन ये लम उबालग का मफोल लहू नहीं है बल्कि मफोल लहू है किसका जिसको लम उबालिग का माना शामिल है क्या है वो सुन लो आई तरक्तुल मुबालगता यानी मैंने मुबालगे को छोड़ दिया फिर इख्तारी इख्तार करने में मुख्तर करने में मैंने मुबालगे को छोड़ दिया क्यों तकरीबन लिताफ़ी उसके हासिल करने को करीब करने के लिए लिता तनावली वही माना है उसके हासिल करने को करीब करने के लिए यहाँ पर एक बात है इसी तरह देखो यहाँ इन्होंने लम उबालग को जो इसके माना को शामिल है तरक्ल मुबालगा ये इबारत लाकर कहना क्या चाहते हैं इसके अंदर एक बारीक बात है मतन को जहन में रखो वही जो मैंने अब तक बताई और आगे वाली बात को उसके ऊपर रख दो ठीक है मैंने मुबालगा नहीं किया चाय में मुख्तर के लफ्ज़ को मुख्तर करने में इसके लफ्ज़ को मुख्तर करने में तो मुबालगा नहीं किया लेकिन किसी और चीज़ में मुबालगा किया चलो कुछ हो वरना तुम और उलझ जाओगे हम्म। हम्म। देखो इन्होंने कहा कि मैंने उसके यानी मुख्तसर के मुख्तसर करने में मुबालगा नहीं किया तो मुख्तसर के मुख्तसर करने में तो मुबालगा नहीं किया हाँ इसका मतलब क्या निकलता है दूसरा तो मैंने मुख्तसा का मुख्तसा करने में मुबालगा नहीं किया बल्कि इसको मुतवल करने में मुबालगा कर दिया हालांकि ऐसी बात नहीं तो इन्होंने इसको इसको माना में लिया किसको तरक्सुल मुबालगा ये तरक्सुल मुबालगा के माना को शामिल है कि मैंने मुबालगे को मुख्तसर करने में क्या कर दिया है छोड़ दिया है अब बात सही होगी अब कोई अंदर इस काल वाली बात या इस तरह की कोई बात नहीं होगी लिताती ही अरे तनावली उसको हासिल करने के लिए व तलबा अला तालबी ही और तलब करने के लिए उसके फहम की आसानी को उसके फहम की आसानी को तलब करने के लिए मैंने क्या कर दिया है मुबालक को छोड़ दिया है पर आसानी किसको हो जाए अला तालबी ही उसके यानी मुख्तर के तलबा पर जो मुख्तर को पढ़ते हैं वह जमायर मुख्तसरी कहते हैं ज़मीर मुख्तसर के लिए हैं यानी ज़मीर मुख्तसर की तरफ लौट रही है कौन से ज़मीर है चार ज़मीरें हैं इख्तसारी लफ्जी ही लताती ही फाहमी ही तालिबी ही मिली है ना मुबारक इख्तसारी लफ्जी ही नहीं मिला हाँ हाँ तो लफ्जी ही आती ही ताहमी और हाँ। तालिबी ही ये चारों ज़मीर फरमाते हैं और जमाई मख्तसर और ज़मीर मख्तसर के लिए यानी मख्तसर की तरफ राजा हैं वफ़ी वसफ़ी मुअल्लफ़ी बेअन्ना मुख्तसर मनक़ाहन सहलमाखजी तारीफ़ बेअन्ना ला तवीलफ़ी वला हशवा वला ताक़ीदा कमाफिलकस्म तालिफ़ी अब फरमाते हैं फ़ी वसफ़ी मुअल्लफ़ी मुअल्लिफ कहते हैं जमा करने वाला लिखने वाला किताब को तसनीफ करने वाला और मुअल्लफ वो चीज़ जो लिखी गई जिसको जमा किया गया तो इन्होंने किस चीज़ को जमा किया है उसका नाम है किताब और जिस चीज़ को जमा किया उसको क्या कहते हैं किताब तो इसका तर्जमा कर लेंगे किताब मुअल्लफ ही उनकी तालीफ शुदा चीज़ यानी किताब और वक्त के माना तारीफ और उन्होंने अपनी या उस उनकी किताब की तारीफ में भी अन्नहु ये बात है कि वो मुख्तसर मुख्तसर है मुनक़ा साफ सुथरी है मुनक्का है सहरमाखजी उसका उसका लेना हासिल करना आसान है ये तीन चीज़ें कही अब इन तीन चीज़ों से तीन चीज़ों की तरफ इशारा है तारीज़ इशारा है बी अनहूला तफवील फी उसमें कि उसमें हाँ, नहीं है जो मुख्तसर होगी तो उसके अंदर तफवील नहीं होगी ला वाला हशवा और हशव नहीं है अरे मुनक़ा होगी तो उसके अंदर फालतू कलाम नहीं होगा वाला ताक़ीदा जब सहलमाखद है उसका हासिल करना आसान है तो उसके अंदर ताक़ीद और पेचीदगी नहीं होगी तब ये बातें इन्होंने इशारे के तौर पर बयान की हैं जो है बिल्कुल सरीही अल्फाज के अंदर बयान नहीं किए हैं ये सब चीज़ें किसके अंदर थी कमाफिल किस्म सालिफ जैसा किस्म सालिफ में ये चीज़ें थी मेरी किताब के अंदर ये सब चीज़ें नहीं है कौन सी किताब में असला वाजफ तो इला दालिका फवाइदा और मैंने इजाफा किया कायदा तो और मैंने उसकी तरफ यानी उसमें इजाफा किया फ़वादा बहुत से फ़वाद था असर तो अलहा जिन पर मैं मुतला हुआ ठीक है वह जवादा और बहुत सी जायद चीज़ों का लम अजफुर फ़ी कलाम आहदिन मदन मदन देखो लम अजफुर फ़ी कलाम आहदिन व तसरीही बिहा जिस पर मैं कामयाब नहीं हुआ में कामयाब नहीं हुआ सी कलाम अहदिन किसी के कलाम में किस तरह बित तसरी सराहत के साथ बित तसरी बिहा उस पर सराहत के साथ ठीक है वला बिल इशारा लिया और ना उसमें इशारे के साथ कि न मुझे इशारे के साथ कोई बात मिली और न मुझे सराहत के साथ कोई बात मिली मैंने ऐसी चीज़ों का भी इसके अंदर इजाफा किया है और ज़्यादती की है किसके अंदर ये अपनी किताब के अंदर जिसका नाम क्या है तम में तू तलखी मिफ्ता जिसका मैंने नाम तलखी मिफ्ता रखा है ये हुई मतन और ये है खुलासा आ गया अब इसकी शराह देख लो और मैंने इजाफा किया उसकी तरफ यानी उसमें इजाफा किया जालिका का मुशार निकाल रहे हैं किस में इजाफा किया है अल अलमजकूर मिनलवादी वगैरह जो जिक्र किए गए हैं कवायद वगैरह किताब के अंदर जो कवायद वगैरह जिक्र किए गए हैं उसमें मैंने इजाफा किया है मफ्ताहम के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी और किताब में लिखी तो उसमें मैंने इजाफा किया है किसका फ़वाद बहुत से फ़वाद का बहुत सी चीज़ें तो वह हैं जिनको मैंने किताबों में देखा उलमा की और बुलावा की किताबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिली तो वह मैंने किताब वहाँ से लेकर अपनी किताब के अंदर लिखी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनकी किताब में मुझे ना मिली बल्कि ऐसा भी ना हुआ कि कहीं इशारतन मिली हो न सराहतन मिली न इशारतन मिली बल्कि वो मेरी जहन की एक काश्त है काश्त वाई गोना कि वो मेरे जहन ने जो है उन बातों को निकाला है और मेरे जहन के अंदर खुद ब खुद वो बातें आई हैं जिनको मैंने अपनी सोच और फिक्र के नतीजे में इसके अंदर लिखा है आ गया उसे कह रहे असर तू मैंने इजाफा किया उसमें बहुत से फवाद का असर तू मैं मुतला हुआ अई इतला फी बाजी कुतुबिल कौम अला तिलकल फ़वादी यानी मैं कौम की बाज़ किताबों में उस पर यानी उन फ़वाद पर उन पर यानी उन फ़वाद पर मुतला हुआ एक बार कौम की बाज़ किताबों में उन पर यानी उन फवाद पर मुतला हुआ वह सवाइदा यानी कौम कौम की बात किताबों में उन फवाद पर मुतला हुआ अरे वो सी बात तो तलखीस मफ्ता में से ले ली थी वो मफ्ताम में से और फिर बहुत सी किताबों में ढूंढनी उलमा की उसमें मिल गई लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो जायद हैं जवाद यानी जो किताबों में नहीं मिली मैंने अपनी तरफ से उसमें बढ़ाया है वह अजफ तू जवादा मैंने क्या करा जवाद का भी इजाफा किया लम अजफुर आई लम अफुज मैं कामयाब नहीं हुआ सी कलाम या हदिन किसी के कलाम में बे तसरीही सराहत के साथ काय भी उस पर यानी उन पर मैं सराहत के साथ किसी के कलाम में कामयाब नहीं हुआ यानी मैंने उनको कहीं नहीं पाया किन को अय बितिल का जवाइदी यानी उन जवाइद को हो रहा है न तो सराहत के साथ वाला भी इशारा दी लिया और ना उन पर उनमें जो है इशारे के साथ इशारे के साथ किस तरह वो इस तरह कि उन्होंने कोई बात जिक्र की कोई कायदा जिक्र किया किसी किताब में अब उससे सराह तो नहीं लेकिन उससे ताबे होकर और किसी तरह से कोई बात मिल रही हो जिसका उन्होंने इरादा भी नहीं किया कि हम इसमें यह बात जिक्र करना चाह रहे हैं कि इशारा किनायों के अंदर भी कोई बात मुझे नहीं मिली बल्कि वो जहन से ही मैंने जो है इसके अंदर लिखी है बेअन यकून कलाम इस तौर पर कि उनका कलाम अला वजहन युमकिन मिनहू उनका कलाम इस तौर पर हो कि जिससे उसका हासिल करना बितबा मुमकिन हो ताबे करके मुमकिन हो अगरचे उन्होंने उसके इरादा न किया हो ऐसा भी नहीं हुआ बल्कि मेरी जहनी काविश का यह नतीजा है अब यहाँ पर ये तो बात होगी पूरी अब यहाँ एक फ़ायदे की बात समझ लेनी चाहिए मैंने उसमें इजाफा किया फवायदा बहुत से फायदों का फवायद का कौन सी जिन पर मैं ओम की बाद किताबों में मुतला हुआ और आगे जो इन्होंने अपनी जहन से बातें लिखी हैं उनको क्या कहा अरे अपनी जहन से जो बातें लिखी हैं उनको क्या कहा उन्हें तो फवायद कहा और इनको क्या कहा जवाइद ये ज़्यादा चीज़ें हैं फालतू तो ये जवाइद हैं तो इस पर ये बात आती है कि इन्होंने जवायद क्यों कह दिया तो एक जवाब तो इसका ये है कि मुसनफ़ आलिमा ने कसर नफसी की बिना पर यह क्या है यानी अपने आप को छोटा बना छोटा समझते हुए क्या है कि मैं छोटा मोटा आदमी हूँ इसलिए जो है मेरी जो बातें बढ़ाई हुई हैं वो तो जवाब के दर्जे में और वो बड़े लोगों की किताबों में से बातें हासिल की हैं मैंने तो वो फवाद के दर्जे में एक बात या फिर इसका दूसरा मतलब लिया जाए कि जो उन्होंने बयान की है वो तो फवाइद है अब उन फवाइद पर और बढ़कर मैंने जो है ये चीज़ें लिखी है जवायद यानी उनसे भी बढ़कर उनके ऊपर बढ़ाकर और उनके ऊपर ये ज्यादा करके समझना गया जायद मतलब नहीं बल्कि उनके ऊपर बढ़ के जैसे जैसे एक मिसाल है कुरान करीम के अंदर ये हदीस के अंदर है कुरान में कि अल्लाह ताला जन्नती को जन्नती सब चीज़ें दे देंगे सारी चीज़ों को अल्लाह ने अपने दीदार को ऐसी जायद के लफ्ज से ही ताबीर किया है एक आयत के अंदर वाया जहन नहीं आ रही मेरे तो देखो उसके अंदर हम्म लिल्लदीन अहसनसना वजियादा लिल्लदीन अहसनसना उन लोगों के लिए जिन्होंने अहसान किया अच्छा अमल किया क्या है हसना है और ज्यादा है हसना से मुराद हसना से मुराद जन्नत और ज्यादा से मुराद अल्लाह का दीदार तो देखो अल्लाह का दीदार तो जन्नत से बड़ा हुआ है ना अल्लाह का दीदार तो वो तो जन्नत से बड़ा हुआ है तो उसको किससे ताबीर किया है लफ्ज ज्यादा से ऐसे ही यहाँ पर जो जवाइर कहा है तो ये इस तौर पर इसको मान सकते हैं इस तौर पर मान लिया जाएगा दूसरी सूरत में कि वो तो फवाद हैं और ये उससे भी ऊपर बढ़कर है तुम